वो तो अधिकारी बन जाते हैं किसी अधिकारी पर उनको नियुक्त कर दिया कि आप ये करो आप ये करो और जो हिरण्यगर का कोई उपासक है वो ब्रह्मा के साथ मुक्त हो जाते हैं और जो भगवान के उपासक हैं विष्णु के उपासक हैं वो अपनी इच्छा से ब्रह्मांड का भोजन करके वैष्णव पद में चले जाते हैं तो इस संसार में वासुदेव की भक्ति को छोड़ करके और कोई कल्याण का मार्ग नहीं है ब्रह्मा जी ने तीन बार वेदों को ठीक ठीक अनुसंधान किया और कहा भगवान ब्रह्म पात्मेन त्रिरंक्षमनीषया तदर्थवस्तूतस्थो रतरात्मनी तो हवे तो तीन बार ब्रह्मा जी ने अनुशीलन किया वेदों का शास्त्रों का और ये निश्चय किया कि जीव के लिए वही साधन बढ़िया है कि जिस साधन के करने से भगवान के चरणों में की हो ये निश्चय किया और जो सकाम जो बोले जो अपने इष्ट देव हैं उनसे हम नहीं कुछ कामना रखते उनकी तो निष्काम भाव से उपासना करते हैं और जो है जो कोई इच्छा होती है तो और और देवताओं को मना लेते तो एक तो इस तरह के उपासक होते हैं दूसरे ये कहते हैं कि नहीं नहीं जैसे प्रकार स्त्री तो उसको एक सुई चाहिए तो अपने पति से मांगेगी और कोई बड़ी से बड़ी वस्तु होगी तो अपने पति से मांगेगी और जो कुछ में चाहिए तो पति की सेवा करेगी तो यही बात है अकाम सर्वकाम होगा मोक्षताम उदारती तीव्रेण भक्त योगे न यदेत तुरुषम परम तुमको कोई कामना है तो अभी अपने इष्ट देव की पास उनसे ही मांगो और कुछ मांगो अगर कोई कामना नहीं है तो उन्हीं को उपासना करो सुखदेव जी कहते हैं भगवान सूर्य प्रातः काल उदय होते हैं पूर्व में और सायंकाल को हो जाते हैं ये क्या करते हैं बोला हमारी आयु कम कर रहे हैं आयु हरत भाई पुंसान उद्यन्न स्कंजयन्न सौ ते क्षणनीत उत्तम श्लोक वार्तया एक एक दिन आयु कम होती चली जा रही है आयु कम होती चली जा रही आज भगवान प्रातः काल उदय हुए और सायंकाल को होने वाले हैं तो एक दिन की आयु कम हो ऐसे एक एक दिन कम होते हुए कोई पचास वर्ष के हो गए कोई साठ वर्ष के हो गए तो जी जो जिनका समय भगवत कथा श्रवण में भगवत ध्यान भजन में व्यतीत होता है उनका वो समय तो सार्थक है और नहीं व्यर्थ ही आयु नष्ट हो रही है तो अगर व्यर्थ क्या नष्ट हो रही है क्या जीने हैं खाते हैं पीते हैं जी रहे हैं कटारा तो पुण्य जीवन की अरे जी तो जीते तो वृक्ष भी तो वृक्ष सांस तो नहीं लेते फिर अस्त्रापुण्य स्वसंत ही सांस तो वस्त्रा भी ले रही है न खादन किन बेहंती किंग्राण पशु करे स्वगत गराष्ट कर संस्कृत पुरुष पशु जो जिसके कान में जिसने आज तक कभी भगवान की कथा सुनी ही नहीं उसकी तो प्रशंसा ये पशु भी करते हैं अरे भाई ये तो हम सबसे बड़ा पशु है कौन स्वभिट बराह और उष्ट और थर ये भी उसकी प्रशंसा करते हैं कहीं का तो हमसे भी बड़ा पशु है न यद कर्ण कहोगे तो जाति नाम अगरा गज विलेव तो रुक्रम विक्रम ये न कर्णपते वो तो चूहे के रहने के बिल समझो सड़कों के रहने के बिल हैं जो अपने कामों से में जिनके कामों में भगवान की कथा जाती है उनकी जीवा व्यर्थ है जो भगवान के गुणगान नहीं करते भगवान के चरणों में जिसका सिर नहीं झुकता उससे उनका व्यर्थ है जो अपने हाथों से भगवान की सेवा नहीं करते वो कितनी बढ़िया घड़ी बांध लो आभूषण पहन लो उन हाथों की क्या सेवा है उन आत्मों की शोभा है जो अपने बड़ों की सेवा करते हैं बढ़ाए थे ते नयनी नराणाम वो मनुष्यों के नेत्र मोर पंख में बनी हुई नेत्र के समान हैं कि जो भगवान के मंगलमयी मूर्तियों का दर्शन नहीं करते जो अपने पैरों से चल करके तीर्थों में नहीं जाते उनके वो पैर चरण जो है व्यर्थ वृक्ष के समान व्यर्थ बोला जीता हुआ मुर्दा कौन है जीवन क्षर सांस चल रही है जी रहा है पर है मुर्गा कौन है वो जो भगवत भक्तों की चरण रज जिसने मस्तक का धारण नहीं किए वो श्री विष्णु पद्या मनजस श्वसन छवो यस्तु न वेद गंधम भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी की गंधई जिसने नहीं जानी आज तक अरे वो जीता हुआ शब्द है महाराज श्री विष्णुपद्या मनजस्तुलस्या स्वसन शबोयस्तु वेदगंधम भगवान के चरणों पर चढ़ी हुई तुलसी को उसने सुधा ही नहीं मस्तक पर धारण ही नहीं किया इनका कारण लिखा है भगवान का जितना भक्त होगा उतनी ही तुलसी की गंध प्रगट उसके सामने होगी सनकादिक महर्षियों से पूछो कैसी अद्भुत उनको उत्तर ग्रंथ आई तो कहते इसलिए साधारण व्यक्ति को तुलसी की गंध नहीं प्रतीत थी भगवान का जितना आनंद भक्त होगा तो तुलसी की गंध उसको उसी तरह से अनुभव होगी प्रकट होगी इसके सामने तो इस तरह से परम हृदय बसेदन जो तो हृदय का उसका फूलाधिकार है ये जी भगवान नाम नामों को श्रवण करके कथा श्रवण करके जिसका हृदय गरीब होती है तो इसके इन बचना को सुनकर करके महाराजा परीक्षित बोले हुए भगवान हे गुरुदेव आपके वचनों से हमको बड़ी शांति मिलती है तब वचा समीचीनम ये नम अज्ञान नश्यम आपकी तो वाणी को सुनते सुन सुन करके मेरा अज्ञान निवृत्त हो रहा है फिर आपसे मैं पूछता हूं भगवान अपनी माया के द्वारा विश्व की कैसी रचना करते हैं किस तरह इसका पालन करते हैं कैसे संहार करते हैं प्रथम विश्वम पालय थे संघर्ष से स्वयं क्रीडन ये भगवत रत्न में और अब सुनना चाहता हूं आपसे जब ये पूछा तो भगवान के गुणों का वर्णन करने के लिए सुखदेव जी भगवान की स्तुति कर के पहले नमा परस्मयी पुरुषाय से सर्वस्थान निरोध लीलया गृहीत शक्ति कृतया विदेहिनाम अंतर्भवायामुपलक्ष्य वर्तमने भूयो नमा सद्रविनच्छिले सता संभवाया खिल सत्समूर्त पुरुषा पुनः आश्रमे व्यवस्थिता मनुमृत्यदास तो इस तरह से सुखदेव जी ने भगवान की स्तुति की यद कीर्तनम यद स्मरणम यदीक्षणम यद बंधनम यद श्रवणम यदारणम लोकस्थ सद्यो विष्णोति कलमसम अस्मय सुभद्र शरसे नमो नम किरातूनाम रकुलिंद कुलपसा आजीवकंका यदनाथ फसादय लिंगे जपाता जगपाश्रयाश्रया सिद्ध्यंति तस्मयी पर वैष्णवी नम तो इस तरह से जब भगवान लीला के विषय में प्रश्न किया तो भगवान किस प्रकार से विश्व की रचना करते हैं किस तरह से पालन करते हैं कैसे अपने में लीन कर लेते हैं ये जब प्रश्न किया तो उसका उत्तर देने के लिए भगवान का स्मरण किया प्रार्थना की स्तुति की सुधे और कहा राजन जो तुमने हमसे पूछा है ना यही नारद जी ने ब्रह्मा जी से पूछा और ब्रह्मा जी ने जो नारद जी को बताया था वही बात हम उनको सुनाते एक देव ब्रह्मा नारदाय हरणोत्तम कथ है एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से कहा हे देव देव मैं आपको प्रणाम करता हूं मुझे ऐसा उपदेश करो जिससे मुझे आत्म तत्व का बोध हो जाए ये विश्व किसके आश्रय है और तो किसके द्वारा इसकी रचना हुई है और किसमें लीन हो जाता है हे विभो मैं तो ये समझता हूं आप ही इस विश्व की रचना करते हैं आप ही इसका पालन करते हैं आप में ये लीन हो जाता है कुंभ ये सर्वम भगवती के मंदिर परंतु जब आप स्वयं नेत्र बंद करके जब ध्यान करते हो तप करते हो तब हमको शंका होती है कि जब यही परमात्मा है तो ये किसका ध्यान करेगा <coughs> इसलिए आप अपनी शंका होती है वैसे तो मैं यही समझता हूं आप ही विश्व की रचना करते हैं आप ही विश्व का पालन करते हैं सब अवान यद घोरम तपम तप आचरत तेन लोग मोह ऐसे इसलिए हमको मोह होता है ईश्वर ईश्वरांतर शंकाम प्रयक्षित इसलिए आप बताइए हमारे संदेह को निगत कीजिए ब्रह्मा जी बोले ओ बेटा तुमने बहुत सुंदर बात पूछी चलो भगवान के गुण भगवान के गुणों का वर्णन करना पड़ेगा तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न किया तस्मय नमो भगवते वासुदेवाय जी नहीं यन माया दुर्गया नाम भगवंत जगत हरे ही भगवान की माया है जिससे मोहित होकर के हमको ही तुम ईश्वर समझेंगे तुमने हमको परमात्मा समझ लिया देखो तो सो नहीं या यसे स्थाप मीक्षा पथे मेरा विमोहिता विकथनते ममा हमें तो दिया ये माया भगवान के सामने जाने में ही लज्जित होती है भगवान विलज्जमानया यसे स्थाप मीक्षा अखेलया ये माया जो है भगवान के सामने नहीं जाती उनके सामने जाने में लज्जित होती है श्री कटापुर नाराज कहा करते थे ये माया क्यों लज्जित होती है भगवान के सामने जाने में क्या कारण तो उसको ये संतोष है ये लज्जा है कि भगवान के अंश जो जीव हैं भगवान के तो अंश ही हैं भगवान के पुत्र हैं और मैंने इनको मोहित कर रखा है विषयों के दास बना रखा है तो किसको किस मुंह लेकर के भगवान के सामने जाओ कोई ऐसी स्त्री हो किसी राजा के पुत्रों को बहका करके कहीं ले जाए किसी का दास बना दे तो राजा के सामने कैसे जा सकते तो महाराज कहा करते थे इसीलिए उलज्जित होती है कि भगवान के अंश जो जीव हैं उन जीवों को भगवान से इसने विमुख कर रखा है महाराज इसलिए लज्जित होती है उनके सामने कैसे जाए विलज्ज मान जाए स्थात्मिक शापति मिला ब्रह्मा जी कहते हैं उसी माया से मोहित होकर के और ये मैं और मेरा मैं और मेरा इसमें फंसे हुए हैं जी अरे ये साक्षात नारायण से ये सारा विश्व उत्पन्न होता है नारायण देवता नारायण से प्रगति हुए ये संपूर्ण योग नारायण से प्रगति हुए योग तप ज्ञानम गति सर्वम नारायण परम नारायण ये साथ नारायण के प्राप्ति के साथ मैं उनसे उनकी कृपा से उनसे प्रेरित होकर के तो इस जगत की रचना करता हूं ये परिणाम जगत सा भगवान सर्वेशा मनुष्य ईश्वर वो परमात्मा संपूर्ण प्राणियों का मेरा भी ईश्वर की नाभि के से उत्पन्न हुआ जो कमल है उस कमल से मेरी उत्पत्ति हुई बस ईश्वर से नाभि कमलाता हम जाता उन्हीं के नाभि कमल से मैं प्रकट हुआ भगवती नारायण एकदम में स्थितम अस्थित भगवान नारायण में ही सारा विश्व स्थित है नारद यस्मात मया हृदय हृदय मे वाणी मृषा मैं उसी नारायण का स्मरण करता रहता हूं न भारती में न मृषोपलक्षते न भारती में न न वही क्वचिन्मे मनसो मृषागति न मे हृषिकाणी प्रतंत्र सत्पथे यन मे बता जो हरि ब्रह्मा जी कहते हैं कि नारद जी देखो हमारी वाणी कभी झूठी नहीं होती न भारती में न मनसोपलक्षते न वही क्वचिन में मनसो मृषागति मन हमारा कभी कुत्सित मार्ग में नहीं जाता असत पथ में नहीं जाता नमे ऋषिकाण पसंद असत पथे मन हमारा विषयों में नहीं भटकता इंद्रियां असत पथ में नहीं जाती कारण क्या है कि हमने अपना मन भगवान में लगा रखा यंगे हृदय कंठ रता भृतो हरि ही प्रेम से हम भगवान का भी ध्यान करते रहते हैं भगवान का चिंतन करते रहते हैं और जो जो व्यक्ति चाहे हमारी भी बात सच्ची हो झूठी न हो हमारा मन कुमार में न जा उसको क्या करना चाहिए वो भी भगवान का ध्यान करें ब्रह्मा जी ने यही तो साधन बताया कि हम प्रेम से भगवान का जो ध्यान चिंतन करते हैं इसलिए हमारी वाणी झूठी नहीं होती हमारा मन कुमार्ग में नहीं जाता हमारी इंद्रियां असर पथ में नहीं जाती हैं वो भगवान ही जिसके ऊपर दया करते हैं इंसान सही भगवान दये अनंता तो भगवान ही जिसके ऊपर कृपा करें सर्वात्मना शतपदो यद निष्क्री ते दुस्तराम अतितरंत देव माया नईशाम मत भी सुसराल रक्षे भगवान स्वयं जिसके ऊपर कृपा करें तब उसी की मोह और ममता इस शरीर में से निकलती है ये नहीं था ब्रह्मा जी कहते हैं कि वो नारद जी देखो अहम भव प्रहलाद मैं भगवान शंकर प्रहलाद मुनि और जो है प्राचीन वर्जी रघु ध्रुव चाकू मुस्कुंद जनक गाधी रघु अम्बरीश सबर नहुष मानधाता अलर्क रंतिदेव भीष्म बली दिलीप सर्वरी श्री देवर कपला उद्धव व्यास भूषेण विभीषण हनुमान सुख पार्थ विदुर सुखदेव एते भगवान मायाम विदंती तरंत ये भगवान की माया का स्वरूप जानते हैं और उसके पार हो गए हैं जो स्त्री हैं शुक्र हैं तो वो भी यदि भगवान के भक्त होते हैं तो माया से भर कर्म भगवान का स्वरूप क्या तद वही पदम भगवता परम पुरुषो ब्रह्मेत यद सुखम विश्वकम भगवान का वही स्वरूप है जिसको ब्रह्म कहते हैं जिसको सच्चिदानंद परमात्मा कहते हैं भेद शून्य ज्ञानी ग्रसम यद ब्रह्मो विदु तत् परमस्व पुरुष स्वरूपम यही भगवान का रास्ते रूप है नारद जी को भगवान ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये हमने संक्षेप से तुम्हें श्रीमद भागवत को सुनाया अब इसको तुम विस्तार करो वर्णन करो ब्रह्मा जी कमल के ऊपर भगवान की नाभि से कमल प्रकट हुआ उसमें ब्रह्मा जी स्थित थे तो उनकी सृष्टि करने की इच्छा हुई तो उनको स्मृति नहीं आ गई काम सृष्टि नाथ रचित तो किस तरह से हम सृष्टि की रचना करें ये उनकी बात समझ में नहीं आती तो वो उन्होंने स एकदा अंबसी चिंतन तप तप इत सुषा उस तरह से विचार कर रहे थे हाँ, चिंतन कर रहे थे और उनको तो आकाशवाणी सुनाई पड़ी ताप ताप इधर उधर देखा तो कुछ उनको दर्शन नहीं हुआ किसी का दिखाई कुछ नहीं दिया तो त्वरतम विचार या तपस्वी मनोबली तो फिर वो तपस्या करने लगे और दिव्य वर्ष है स्वयं तपस्ती भी दिव्य सौ हजार वर्ष तक जो तप करते रहे तो फिर भगवान ने ब्रह्मांड के सामने अपना वैकुंठ लोक प्रकट किया तब दर्शनी नैश्यम वो वैकुंठ का दर्शन करके ब्रह्मा जी प्रसन्न हो गए प्रेम से आंखों में आंसू भरा गए तदा भगवान प्रीत मना ब्रह्मांड करे प्रसन्न भगवान ने ब्रह्मा जी के हाथ में अपना हाथ ले लिया और बोले भगवान बोले रे ब्रह्मण कोले ज्ञान दुष्ट दोष हो हर एक व्यक्ति जो है तो हमको प्रसन्न नहीं कर सकते तो योगी लोग हमको प्रसन्न नहीं करते तब करके तुमने हमको प्रसन्न किया तुम्हारा कल्याण हो बोलो क्या तुम चाहते हो वांछतम वरम वर है हमसे कोई वर मांगो तुमको हमने अपने वैकुंठ का दर्शन कराया है ये हमारी कृपा से ही तुमको वैकुंठ का दर्शन प्राप्त हुआ एकांत में तुमने तप तप ये वचन सुने उसको सुनकर भी तुमने तप किया है उसी का ये फल है ब्रह्मा जी बोले महाराज मैं आपसे यही वर्त मांगता हूं कि मैं जो सृष्टि करूं भगवत शिक्षित महान कर्माणी रतन देता नेह माना प्रजा सर्वम लब्धे हम यदन देता व्यक्ति कोई एक मकान एक कमरा भी बनाता है उसमें भी अपनी आसक्ति कर लेता है तो मुझे तो विश्व की रचना करनी करनी है आपकी आज्ञा से तो मैं उसमें कहीं मनकाम कर लूं कहीं बन न जाऊं ऐसी आस्था है सृष्टि को मैं सृष्टि का निर्माण करूं और उसमें मेरी ममता हो मैं अपने को कर्तान मान बैठू ऐसी करता है भगवान बोले ठीक भगवान ने कहा अच्छा देखो हम अपना ज्ञानम परम कुंजम में यद विज्ञान समुन्नतम सौरहस्यम सदंगम के ग्रहण गदितम मया हम अपना ज्ञान भक्ति के थे तो तुमको देते यावान हम यथाभाव यद रूप गुण करना जैसा हमारा स्वरूप है जैसा तथैव तत्व विज्ञान अस्त से मन हमारी कृपा से हमारे यथार्थ स्वरूप का तुमको ज्ञान देता ये भगवान ने उनसे कहा और फिर भगवान उपदेश करने लगे इसी को चतुर्थ ही भाग रखते थे चार श्लोक भगवान ने ब्रह्मांड के लिए उनको उपदेश किया है भगवान ने कहा ब्रह्मा जी देखो अहमे वासमेवाग्रे नान्य पश्चात हम यदे तथ्य योग शिष्येत रात अहमेवात्मनिराग्रे ये सृष्टि जब नहीं थी तो उस समय केवल मैं ही था अहमे वेद का और कोई वस्तु नहीं थी रात नान्यत यत सद सत परम स्थूल सूक्ष्म इसका कारण ये कुछ नहीं था और पश्चात हम और जो है जब ये सृष्टि नहीं रहेगी तो समय फिर हम नहीं रहेंगे और यदि यद और जो कुछ दिखाई दे रहा है ये क्या बोले यही हम है और नेति नेति करके जो शेष रह जाता है वो हम ही शेष रह जाते हैं पश्चात हम यद एकच यो वशिष्येत सो स्नेहम ये भगवान ने अपना स्वरूप चार श्लोक हैं पहले पहले श्लोक में परमात्मा का स्वरूप दूसरे श्लोक में माया का स्वरूप तीसरे श्लोक में संसार का स्वरूप है चौथे श्लोक में जिज्ञासु का स्वरूप है तो पहले श्लोक में भगवान ने अपने स्वरूप का निर्णय कर दिया ये संसार जब नहीं था उस तो समय भी हम थे तो संसार अब जो सृष्टि के समय जो जो कुछ दिखाई दे रहा है वो भी हम हैं नेति नेति करके जो शेष रह जाता है वो भी हम हैं बस सर्वात्म को हम सब कुछ मेरा ही स्वरूप है सृष्टि प्रागवे प्रागे अहमे वासन स्थूल सूक्ष्म एक प्रधान आदि कुछ नहीं है सृष्टि के उत्तर काल में बोलो अहमे वस्मी और यदि तक विश्वम तदपि हमें प्रलय योग थे सो भी हमें भगवान कहते हैं हम ही हम हैं और कुछ नहीं हमसे जो पृथक दिखाई दे रहा है वो भी नहीं एवं परिपूर्ण हम वास्तवम अर्थम बिना भी भगवान ने कहा इसलिए हम परिपूर्ण हैं अच्छा अब माया का स्वरूप तृतीय संयत प्रतीयत न प्रतीयत चात्मनि तदविद्यादात्मनो मायाम यथा वासो यथा तम तो ऋतीर्थम यद प्रतीयत तो उसको तुम माया जाना कि जो नहीं है उसको तो प्रतीत करा रहे और जो है उसको छिपाए दो उसका नाम है माया देखो आत्मा में सच्च, आत्मा सच्चिदानंद स्वरूप है उसको तो माया ने ढक लिया है आत्मा की आनंद रूपता कहां पर हो रही है और कर्ता भोक्ता में सुखी दुखी आत्मा में ये धर्म नहीं है उनको प्रतीत हो रहा है यही माया है ऐसा भगवत माया यही भगवान की माया वास्तवम अर्थम बिना यद प्रतीयते जो वस्तु नहीं है आत्मा न करता है न आत्मा भोगता है न आत्मा सुखी है न आत्मा दुखी है न आत्मा बद्ध है ये धर्म आत्मा में जो मालूम हो रहे हैं वह यही माया यथा भाषो यथात्मा उसमें दृष्टांत क्या है कि जैसे देखो जिसके नेत्र में रोग होता है उसको चंद्रमा को दिखाई देते हैं तो जंत तो चंद्रमा को तो नहीं है और राहु नक्षत्र मंडल में ग्रहों में राहु भी तो विराजमान है पर राहु दिखाई नहीं देता तो राहु होने पर भी नहीं दिखाई देता चंद्रमा को होने पर भी दो दिखाई देते इसी तरह से जो आत्मा में धर्म है उसका अनुभव न होना और जो नहीं है उनका अनुभव होना यही माया ऐसा भगवती माया ऋतेर संयत प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि तद्विद्यात्मनि मायाम यथा भाषो यथा अन अब ये तीसरे श्लोक में संसार का स्वरूप यथा महान भूतानी भूतेषु प्रविष्टा प्रविष्टान प्रविष्टा तथा सुनते नहीं तथा सुनते स्वहम जैसे ये पंच महाभूत संसार की सभी वस्तुओं में दिखाई देंगे आप यथा महान भूतानी भूतेषु उच्चावतेश्वनु कोई प्राणी है स्त्री है पुरुष है पशु है पक्षी है हम्म? अरे हाथी है मच्छर है उच्चावच बड़ा और छोटा जो कोई प्राणी है वो संपूर्ण उसका शरीर में सब पंचभूत अंग है महा यथा महान भूतानी भूतेश उच्चावशी सुनी प्रविष्टानी सब में प्रविष्ट है और अप्रविष्टानी प्रविष्ट भी है और अप्रविष्ट भी है कैसे जैसे मृतका से घट बनता है तो मृतका घट में प्रविष्ट भी है और वो घट से बाहर भी है कारण रूप से ऐसे पंच महाभूतों से कुछ संसार बना हुआ है और पंच महाभूत और बाकी भी तो बचे हैं जो अलग दिखाई दे रहे हैं <coughs> जो कारण रूप से स्वयं स्थित है और कार्य रूप में भी स्थित है तो प्रविष्ट भी है और अप्रविष्ट भी है ये संसार का स्वरूप होता है ये सारा संसार पांच भौतिक है ये पांच भूतों का ये सारा है श्वेतावदेव जिज्ञास तत्व जिज्ञासनात्मक ये जिज्ञासु का स्वरूप है कि तत्व का जो जिज्ञासु है उसको क्या जानना चाहिए कि अन्वय व्यतिरेकाभ्याम यज्ञा सर्वत्र सर्वदा उस वस्तु को जानना है जिज्ञासु को अन्वय व्यतिरेक के द्वारा कि जो <clears throat> समय अनुगत है वो तत्व है और जो परस्पर भिन्न है वो मिथ्या है